संकेत की स्मृति समाप्त होने पर सुस्त अनुमान ज्ञान विकल्प तजन स्मृति नहीं होती है तो सम प्रज्ञा बुद्धि ग्राह्य से ऊपर रखता है ग्राह्य विषय बुद्धि हो जाती है अपना स्वरूप जो प्रज्ञा रूप ग्रहणात्मक उसको छोड़ करके त्यक्त स्व स्वमिव प्रज्ञा रूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त युव का अन्य त्यक्ता त्यक्ता के आगे अपना स्वरूप प्रज्ञा रूप ग्रहण ज्ञान रूप स्वरूप को छोड़ करके जैसे छोड़ता तो नहीं स्वरूप तो रहेगा त्याग नहीं हो सकता है किंतु उसमें स्वरूप का भान नहीं उसमें खाली पदार्थ मात्र स्वरूप जो अर्थ है विषय विषय मात्र रूप हो जाती ग्राह्य स्वरूप आत्मा एवं जाती प्रज्ञा उसमें ग्राह्य जो विषय स्वरूप जैसे हो जाती है उत्सवों का निर्वितर का समाप्ति कही तस्या एक बुद्धि उपक्रम उससे एक ऐसे बुद्धि आरंभ होता है अर्थात्मा अर्थ स्वरूप अनुप्रत्यय विशेषात्मा अणु का समुदाय है गोह घटादि हो अनुसमुदाय से अतिरिक्त अवयवी नाम का वस्तु नहीं है ऐसा बौद्ध लोग कहते हैं किंतु ऐसा नहीं अवैध वस्तु है किंतु जैसे न्यायिक लोग कहते परमाणु मिलकर के दो परमाणु से द्वियाणु को तीन द्विअणु मान करके त्रियाणु को इसी प्रकार कार्य आरंभ होता है ऐसा ही नहीं मान करके योग दर्शन में अणुओं का समुदाय गो हो घट आदि हो ऐसा ही कार्य होता है तो जो मानते हैं स्थूल पदार्थ जो घट हुआ दिखता है बिना बाधक उसका अपन अपलाप नहीं कर सकते हैं इसलिए अवयवी वस्तु है तब तक ये पश्यन्ते दियणुकादि कर्म में दो घटादि उपजाएंगे थी तार्किक बोलते परमाणु से दियोण को आदि से त्रियणुकादि क्रम से अवयव वस्तु की उत्पत्ति होती है तान प्रत्याह उनके प्रति कहते ये अणु प्रत्यय का समुदाय है और जीवाणुकारी के क्रम से नहीं जो स्थूल पदार्थ है अनुनाम प्रत्यय स्थूल से स्थूल को परिणाम है सबसे हम्म? विशेष कैसे अन्य स्नात परिणामांतरा अन्य परिणाम से भिन्न होता है वो कहा अनुप्रत्यात्मा अर्थात्मा सैव आत्मा स्वरूप में से सकथूत है गवादि भोगायतन शरीर घटादि विषय तत् एतद उभयमपि लोक लोक है लोक दर्शन धातु से बने या लोक्यते थे लोक लोक्यते क्या था दृश्यता थे इस अनुभव का विषय लोक हुआ नन ये सूक्ष्म भूतेभ्यो भिन्नो अभिनवाख्यात्म जो ध्रुव वस्तु है अवय सूक्ष्म भूत से भिन्न है अथा भिन्न है भिन्न से कथम तदाश्रय यदि भिन्न होगा सूक्ष्म भूत से भिन्न होगा अवयवी तो फिर उसमें आश्रित कैसे होगा भिन्न भिन्न में आश्रित नहीं होता है घाटा अपने अवयव में रहेगा पट में तो नहीं रहता है पट में रखा हुआ है घट तो हमेशा ही अपने अवयव में रहता है न कि पट में हमेशा रहता है भिन्न यदि होगा तो कैसे भूत सूक्ष्म भूत में आश्रित कैसे होता है कथन से तदाकार मृदाकार कैसे होता है घट यदि भिन्न है नहीं घट पटार अन्य तदाश्रय होगा तदाश्रय तदाकार तदाश्रय होगा तदाकार चाहिए नहीं घट पटाद अन्य तदाकार तदा सेवा घट पट से अन्य है वो घट न तो पटाकार है ना तो पट नाशित है घट पटाद अन्य तदाकार तदा सेवा घट पट से जो अन्य है वह घट कभी पटाकार नहीं है पट नाशित नहीं होता है इसी प्रकार सूक्ष्म भूत से भिन्न यदि स्थूल होगा तो पृथ्वी से आरंभ आरब्ध स्थूलभूत पृथ्वी आकार पृथ्वी आत्मक कैसे होता है और पृथ्वी में आश्रित परमाणु आश्रित कैसे होता है ये भिन्न पक्ष में दूसरा और अभिन्न यदि मानेंगे अभिन्न से तद्वदेव सूक्ष्म असाधारण से क्या यदि स्थूलभूत अवयवी गो घटादि सूक्ष्मभूत से अभिन्न कहेंगे जैसे सूक्ष्मभूत सूक्ष्म है इसी प्रकार स्थूल होने पर भी अवयव भी सूक्ष्म हो जाएगा और असाधारण जैसे सूक्ष्म हो तो साधारण नहीं सब अलग अलग है ऐसे रहेगा अवयव ना को नहीं वस्तु प्रत्यक्ष का विषय होगा सर्व प्रत्यक्ष साधारण नहीं होगा अतः सच संस्थान विशेष भूत सूक्ष्म साधारण धर्म आत्मभूत फलन व्यक्त न अनुमित तो व्यंज कांचन प्रादुर्भवती संस्थान विशेष अवयव का संयोग होता है संस्थान वो तो विशेष अवयव संयोग होकर बनता है भूत सूत्राणाम साधारण धर्म असाधारण नहीं भूत अलग अलग नहीं भूत सूक्ष्म का साधारण धर्म घटादि बनता है आत्मभूत उससे अतिरिक्त नहीं तत्स्वरूप है फलेन व्यक्तन अनुमित फल होता है व्यक्त स्पष्ट होता है कार्य से अनुमित होता है वो तदुरूप ही से भिन्न नहीं है सव्यंजकांजन पहले टीका में अयम अभिप्राय न एकांत परमाणु भिन्न घटादि अभिन्न परमाणु से घटादि अत्यंत भिन्न है ऐसा नहीं कह सकते हैं अत्यंत अभिन्न ये भी नहीं कह सकते हैं अत्यंत भिन्न होता तो भिन्न से गवाचावत धर्म धर्म भाव अनुपत्ते भिन्न में धर्म और धर्म सूक्ष्म भूत में स्थूलभूत रहता है अवय भी घट रहता है तो घट हो गया धर्म सूक्ष्म भूत का यदि सूक्ष्म भूत से परमाणु से घट भिन्न होता जैसे गो अश्व दोनों भिन्न है गो का धर्म अश्व नहीं अश्व का धर्म गो भी नहीं होता है भिन्न में धर्म धर्मी भाव नहीं होता है और ये यदि परमाणु से भिन्न घट होता तो परमाणु का धर्म नहीं होना चाहिए इसलिए भिन्न नहीं कर सकते और जैसे अभिन्न कहेंगे घट परम पृथ्वी परमाणु से भिन्न नहीं अभिन्न है धर्मी रूपवत अनुपत है जैसे धर्मी परमाणु है ऐसे धर्म भी घट नहीं बनेगा वो तो अभिन्न हो गया तो ही परमाणु रूप होगा स्थूल नहीं बनेगा धर्म भी नहीं होगा धर्म रूप तो जैसे धर्म नहीं परमाणु सूक्ष्म होता है घट जी जैसे अभिन्न है तो इसे परमाणु ही होगा धर्म ही होगा धर्म नहीं होगा धर्म धर्मत्व नहीं हो सकता है तस्मात कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न से आश्रय इसलिए कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न इसी प्रकार मीमांसा लोग भी मानते हैं मृत घट ऐसे समानाधिकरण समानाधिकरण प्रयोग होता है अत्यंत भिन्न हो घट खट ऐसे गो गौ महित ऐसे समानाधिकरण प्रयोग नहीं होता है अत्यंत अभिन्न हो तो भी समानाधिकरण प्रयोग नहीं होता है घट कुंभ ऐसा नहीं कहा जाता है घट मृत मृत घट ये तो ठीक है घट कुंभ कुंभ शब्द घट शब्द का अर्थ एक है इसे पर्यावासी का शब्द शब्द प्रयोग नहीं होता है अभिन्न में क्योंकि भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कभी शब्द और एकार्थ व्यक्तित्व ये सामानाधिकरण है दो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है एक अर्थ में प्रयोग होगा तो समानाधिकरण होता है नीलम च सद नीलम उत्वलम नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नील रूप वाला नील रूप और उत्पल का प्रवृत्ति निमित्त उत्फलत्व दोनों एक कमल में उत्फलत्व है और नील रूप है तो नीलम उत्पलम कहा जाता है तो दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होना चाहिए घट और कुंभ दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक ही घटत्व तो ही है इसलिए घट और कुंभ अत्यंत अभेद में समानाधिकरण नहीं होता है इसलिए मृत घट समानाधिकरण होता है इसलिए अत्यंत अभिन्न भी नहीं और अत्यंत भिन्न भी नहीं भिन्न में भी समानाधिकरण गौ अश्व समानाधिकरण नहीं होता है तो भी मानते भेद सहित न भेद मीमांसा में कहते कथन से भेद है अवयव से अवय भी भेद भी है और अभेद भी है कथन से भेद और कथन से अभेद भेद सहित न अभेद को के लोग कहते साधात्म्य न्याय में तो तादात्म करते घट में घट तादात्म तादात्म संबंध से रहता है किंतु मीमांसा के लोग मानते हैं कपाल तो में घट अथवा मृद में घट तादात्म्य में रहता है तो तादात्म्य उनका अलग है भेद सहित न भेद ठीक इसी योग दर्शन में भी अवयव अवयव से कथनचित भिन्न और चित अभिन्न अत्यंत भिन्न नहीं अत्यंत अभिन्न अभिन्न नहीं किंतु सब कुछ भिन्न भी और अभिन्न भी मानना पड़ेगा तभी तो समानाधिकरण प्रयोग होगा और घट परमाणु का धर्म भी बनेगा भिन्न अभिन्न कुछ अत्यंत भिन्न नहीं अत्यंत अभिन्न भी नहीं ऐसा मानना पड़ेगा तथा तो सर्वम थे परमाणु से आरंभ होता है और घट परमाणु में आश्रित तो होता है ये सब तो बनेगा भूत सूक्ष्माणी ष्ठ्या कथन से द्वेद सूचयती सत संस्थान विशेषो भूत सूक्ष्म साधारण धर्म सूक्ष्म भूत का धर्म है संस्थान अवयवी भूत सूक्ष्म का धर्म अलग है ष्टी कहने से भूत सूक्ष्म से अलग है संस्थान षष्टी देने से भेद का भेद सूची षष्टी होती भेद का सूची सूची भेद की सूची का कथन चीज़ भेद में सूचित भाष्यकार ष्टी प्रयोग करके थोड़ा स्वल्प भेद सूचना करते हैं और आगे कहते धर्म आत्मभूत हो वो जो संस्थान भूत सूक्ष्म से अत्यंत भिन्न भी नहीं आत्मभूत आत्मभूत कहकर कथन चित अभेद भी कहते आत्मभूत अभेदम सूचयती भाष्यकार आत्मभूत कह करके अवैध को परमाणु से अभेद भी कहते हैं और भूत सूक्ष्म धर्म आत्मभूत धर्म कह करके भेद भी सूचना करते हैं तो भेद भी है अभेद भी है फले न व्यक्त न अनिमित व्यक्त होता है फल फल से अनुमान करते कल्पना करते हैं फले न व्यक्त न अनुगत तद अनुभव लक्षण है न तद व्यवहार लक्षण लक्षण है न व्यक्त न विप्रतिपन्नम प्रति अनुमापित उसका अनुभव होता है व्यक्त होता है अनुभव ये फल है उसका कार्य अवय भी होने से उसका अनुभव होता है घट स्पष्ट घट का अनुभव घट व्यक्त हो जाता है परमाणु तो अव्यक्त ही प्रत्यक्ष का विषय नहीं है किंतु घट व्यक्त होता है अनुभव होता है यह अनुभव रूप जो व्यक्त फल हुआ और तब व्यवहार लक्षण है ना घट का व्यवहार होता है जलाहरण आदि व्यवहार कार्य होता है शब्द प्रयोग होते प्रत्यक्ष होता है उसे व्यक्त न अनुमित अनुमित जो कहा गया है जो मानते हैं वो स्वयं अनुमान करने की आवश्यकता नहीं जो नहीं मानते उनको अनुमान करके बताते हैं जिसको निश्चय है बन्ही पर्वत में उसको अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है जो कहता है धूम है वन्नी तो दिखते नहीं वन्नी है कैसे मानेंगे तो उसको पंचावय वाक्य प्रयोग करके परास अनुमान प्रयोग किया जाता है तो पर्वत है वन्य धूम हेतु के द्वारा तो अनुमापित तो अनुमित होता है स्वयं अनुमान अनुमान जन्य ज्ञान का विषय अनुमापित है अनुमापित अनुमित कराता है दूसरे को अनुमित ज्ञान कराता है तो दूसरे को अनुमित ज्ञान होता है एक अनुमान वाक्य प्रयोग होता है अन्य को ज्ञान होता है अन्य ज्ञान का विषय हुआ साध्य अनुमापित विप्रतिपन्न प्रति जो मानता नहीं विरुद्धम प्रतिपन्न विप्रतिपन्न साध्य यदि नहीं मानता है ऐसे अवय रूप अलग वस्तु बौद्ध को तो नहीं मानते हैं उनके प्रति अनुमान के द्वारा सिद्ध कराते हैं ऐसे कार्य होता है उसका अनुभव होता है तो अवयवी नाम वस्तु मानना पड़ेगा कारणाभेदन से कारणाकार उपन्ना इत्या और यदि घटय के वस्तु है अवयवी तो फिर निराकार अनुभव क्यों होता है तो कार्य कारण से भिन्न नहीं अभिन्न है कारणाभेद है ना वेदार्थ में कारण से कार्य को भिन्न नहीं मानते हैं कार्य कारण से भिन्न नहीं है किंतु कारण कार्य से भिन्न है घट नष्ट करने पर भी मिट्टी रहती है घट से भिन्न हो गया मृत घट जैसे यदि अत्यंत अभिन्न होता घट नष्ट होने पर मिट्टी भी नहीं रहती इसलिए कारण कार्य से भिन्न है कार्य घट मिट्टी से भिन्न नहीं है क्योंकि मिट्टी के बिना घट नहीं रहेगा और सांख्य में योग में कार्य कारण में अभेद मानते हैं अभेद होने से कारणाकारता मृदाकारता घट में घट मृदाकार है क्योंकि मृद से अतिरिक्त नहीं अभिन्न है थोड़ा अभेद भी थोड़ा भेद भी है तो अभेद अंश को लेकर के मृदाकारता कारणाकारता घट में आ जाती है उपन्ना करना इतिहास स्व्यंजकांजन स्व्यंजकांजन व्यंजक अभिव्यक्ति कारण व्यंजक अभिव्यक्ति कारण वही अभिव्यंजनम कारण ये व्यंजक अंजनम ये स्वव्यंजक अभिव्यक्ति कारण अभ्यंजन अभिव्यक्ति ये अवैधिका की अभिव्यक्ति होती से व्यंजक के द्वारा अभिव्यक्ति कारण के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है तो अभिव्यक्ति हेतु को कह व्यंजक अभिव्यंजक उसे अभिव्यंजक होगा अभिव्यक्ति हेतु वही अंजन अभिव्यक्ति का कारण अर्थात स्व अभिव्यक्ति हेतु से प्रकट होता है घट आदि प्रकट होता है प्रादुर्भवती प्रकट हो जाता है दिखता है अपना अभिव्यक्ति कारण से कारण से घट तो दिखता है एक अभिन्न होने से यदि कारण कार्य अभिन्न है तो पहले भी घट दिखना चाहिए परमाणु अवस्था में घट दिखे क्यों नहीं दिखता है ये तो कहते भिन्न नहीं तार्किक लोग मानते कारण मृत्यु से घट भिन्न है मृत्यु से भिन्न घट का आरंभ होता है और ये सांख्य में योग में कहते घट तो कारण मृत्यु से भिन्न है भिन्न नहीं उत्पत्ति के पहले घट है नित्य में यदि है तो पहले क्यों नहीं दिखता है तो अपना अभिव्यंजक से उसकी अभिव्यक्ति होती दंड चक्र कुलाड़ा आदि के द्वारा घट की अभिव्यक्ति होती है जिस प्रकार अंधकार में घट है प्रकाश के द्वारा घट की अभिव्यक्ति घट का प्रत्यक्ष होता है नहीं कि प्रकाश जलाने से घट की उत्पत्ति हो गई घटक जो वस्तु पहले से है अंधकार से दिखती नहीं प्रकाश से दिखने लग जाती है उसकी उत्पत्ति नहीं उसकी अभिव्यक्ति होती है इसी प्रकार सांख्य में योग में ये कहते हैं दंड चक्र कुलाल व्यापार से घट की अभिव्यक्ति होती है घट पहले से है तिल में तेल है किसने से अभिव्यक्ति होती है पत्थन में पत्थर में मूर्ति पहले से उसको शिल्पी कुछ पत्थर को हटा देता है तो उसमें मूर्ति अभिव्यक्त हो मूर्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है ऐसे कहते कार्य कारण होते तो पहले से अभिव्यक्ति नहीं होती अभिव्यक्ति हेतु से उसका आविर्भाव प्राकट्य होता है इसलिए उसमें अभिव्यक्त हो जाता है कारण आवेदन से कारणाकार का नहीं रहता कांजन क्या है स्वव्यंज कांजन सत्यम तदात्मभूत हाँ का स्वव्यंज कांजन प्रादुर्भवती प्रकट हो जाता है सकिन तदात्म हो तो धर्म नित्यो जो अवैधी उसका आत्मभूत धर्म हो गया तो हमेशा ही रहता है नित्य है न कहते नहीं धर्मांतर हो गए तो जब कपाल रूप था नीति उस समय घट नहीं था घट रूप बनेगा कपाल रूप नहीं रहा घट को तोड़ देने से कपाल रूप हो गया घट रूप नहीं रहा कपाल रूप हो जाए तो कपाल के रूप हो जाने से कपाल रूप भी नहीं रहता है पिंड रूप था पहले मिट्टी में आज कपाल रूप बन गया फिर घट रूप बन गया इसी मिट्टी में एक कपाल रूप धर्म है पिंड रूप भी धर्म है घट भी धर्म है अन्य धर्म होने से पूर्व धर्म नष्ट हो गया नष्ट का अर्थ दिखता नहीं व्याकरण में भी धातुओं का अर्थ जो कहा गया जन्म धातु जन्म उत्पत्ति के लिए जन्म धातु प्रयोग होते जन्म किंतु धातु का अर्थ जन्म प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव होता है प्रकट होता है तो नष्ट नाश होता है नष्ट हो गया तो ध्वंस हो गया इस अर्थ में नष्ट धातु प्रयोग करते किंतु नष्ट धातु का अर्थ अदर्शन नष्ट अदर्शन अदर्शन हो गया नष्ट हो गया का तो अदर्शन हो गया जन्म हो गया तो प्रकट हो गया धातुओं का जो अर्थ कहा गया व्याकरण में ये सांख्य योग दर्शन का अनुकूल है उत्पन्न होता है जन्म होता है मतलब प्रकट हो गया पहले से था और नष्ट हो गया तथा अदर्शन हो गया ध्वंस है किंतु अदर्शन हो गया कितने इसी प्रकार धर्मांतर उदय अन्य धर्म परमाणु में कपाल पिंड रूप था कपाल रूप हो गया त्रिघट रूप ऐसा धर्मांतर अन्य धर्म उत्पन्न होने पर पूर्व धर्म छिल जाता है पूर्व भगवत धर्मांतर से कपालादि उदय कहता कपालादि धर्मांतर होने पर फिर पूर्व धर्म नष्ट होता है सैव धर्म अवैविक उच्यते यह धर्म को अवयवी कहते हैं कपाल घटादि अवयवी घट है अंत्यावैवी कपाल भी अवैध है कपाल क्या भी अवैध है किंतु घट है मुख्य अवैध जो किसका अवैध नहीं होता है यो असो एक महांच अन्यांश स्पर्शवांश क्रिया धर्मक अनित्य जो धर्मी घट है आदि है असो एक परमाणु तो अनेक है किंतु घट एक है महान है परमाणु सूक्ष्म है किंतु घट महान है यदि परमाणु से अलग नहीं कहेंगे तो महान कौन होगा और रोज बौद्ध लोग कहते हैं जैसे एक ही धान्य राशि धान्य का समूह बहुत धान एक साथ रख दिया तो समूह महान हो गया और एक कहते एक हो एक धान्य राशि एक शब्द प्रयोग हो जाता है और तो महान भी कहा जाता है इसके ऊपर बौद्ध मत का निराकरण करने के लिए तार्किक लोग कहते हैं परमाणु का तो प्रत्यक्ष नहीं होता है और जितने परमाणु एकत्र को तो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए तो बहुत लोग उत्तर देते हैं ऐसे नहीं एक का प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी एक साथ अनेक रहने पर प्रत्यक्ष हो जाएगा जैसे एक बाल दिखता है सबको नहीं दिखता और इतने बाल इकट्ठे करेंगे तो दिखता है इसमें से एक बाल निकाल दिखाएंगे तो नहीं दिखता है केस एक है दूर से दिखता नहीं और इकट्ठी हो गया एक हो गया तो दिखता है ये बौद्ध लोग उत्तर देते हैं एक बार इसे रखेंगे तो दिखता नहीं फिर इतने बहुत रखेंगे तो दिखता है फिर में नहीं बार दिखता है और उसमें से एक निकाल देगा कि आपको दिखेगा नहीं जिस प्रकार एक दिखता नहीं अनेक होने पर दिखते हैं इसी प्रकार बौद्ध लोग उत्तर देते हैं परमाणु एक का प्रत्यक्ष नहीं होता है अनेक परमाणु इकट्ठी हो जाने पर प्रत्यक्ष होता है घट अलग मानते नहीं परमाणु का पुंज समूह है किंतु तार्किक लोग कहते ये युक्ति ठीक नहीं है क्योंकि एक केस दूर से नहीं दिखता है पास में केस दिखेगा नहीं ठीक है तो छोटा बड़ा का दिखता है दिखता है तो परमाणु तो पास भी नहीं दिखता है बाल केस पास में दिखता है दूर से नहीं दिखता दूर तो दोष के कारण किंतु पास में तो दिखता है परमाणु तो पास में भी नहीं दिखेगा जो पास में भी नहीं दिखता है अनेक हो जाने पर दिखेगा कैसे इसलिए प्रत्यक्ष जो होता है एक घट महान ये सब प्रत्यक्ष होता है और उसका स्पर्श भी होता है घट का स्पर्श होगा स्पर्श होता है परमाणु यहाँ है किंतु स्पर्श से पता नहीं चलता है सूर्य किरण आने पर दिखता है छोटे छोटे बहुत ही वो तो त्रिवेणु है जो दिखते हैं सूर्य किरण आने पर ऐसा आने पर बीच में दिखता है छोटे छोटे वो त्रिवेणु है तो भी उनका स्पर्श नहीं होता है द्वण को परमाणु का तो स्पर्श होता ही नहीं इसी प्रकार ये स्पर्शवान अनिया छोटा है महान है ऐसे प्रयोग होता है क्रिया धर्म को क्रिया होती चलती क्रिया होती अनिश्चय है इसलिए अवय अलग मानना पड़ेगा बहुत लोग कहते हैं अवेग नहीं ठीक नहीं स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है एक ऐसे ज्ञान होता है महान है अंतर है छोटा है बड़ा अनुयान है क्या है परमाणु में है किंतु बड़ा घट है छोटा घट कूलर उससे भी छोटा है नारियल बड़ा है आंगल उससे छोटा है ऐसे में प्रयोग किया जाता है महान महत्तर अनु अनुतर ऐसे प्रयोग किया जाता है स्पर्शवान क्रिया धर्म का और अनित्य है घट आदि परमाणु को नित्य मानने वाले भी घट को अनित्य मानते हैं तेन अवय बिना व्यवहार क्रियंते अवय भी घट के द्वारा व्यवहार होते हैं जलाहरण आदि टीकाना कपाल आदि उदय कपाल की उत्पत्ति होने पर पिंड आदि का नाच घटका तिरुभाव हो जाता है तस्य अवयविन परमाणु व्यावृतम रूपम आदर्श है अवयवी का रूप परमाणु से भिन्न रूप है परमाणु से व्यावृतम भिन्न रूपम दिखाते हैं परमाणु की अपेक्षा अवयवी का भिन्न रूप दिखाते स धर्म अवैधी से कहते हैं परमाणु को अवैध नहीं कहते जो एक महान से प्रतीत होता है परमाणु साध्य क्रिया या अन्य क्रिया परमाणु से जो क्रिया होती है परमाणु में जो क्रिया होती है परमाणु साध्य जो क्रिया उससे अन्य क्रिया है मधुर का भी धारण लक्षण अभी मधु रखना है किसमें जल रखना है तो धूली लेकर के इतने धूली लेकर के उसमें जल रखन चला जाएगा धूली लेकर के इतने धूल लेकर के उसमें जल रखो रहता है ना सहज रह जाएगा और धूल मिल जाए किंतु घट के तरह मधु उदकादि धारण होता है इसे परमाणु ये तो धूली में परमाणु किरण का आदि किरण के चतुर्ण परमाणु में कुछ नहीं होता है किंतु घट में मधु उदक आदि तरल पदार्थ का धारण होता है इसलिए अन्य क्रिया हुई जो परमाणु के द्वारा नहीं होते इस अन्य क्रिया होती है परमाणु परमाणु साध्य क्रिया से अन्य क्रिया मधु उदकादि धारण लक्षण मधु अलग उदक अलग संबंधित होगा मधु उदकादि धारण लक्षण तद्धर्म का इसी में कहा तद्धर्म क्रिया धर्म का क्रिया अन्य क्रिया धर्म वाला क्रिया अन्य क्रिया अन्य क्रिया धर्म यश अवैधिका न केवलम अनुभव अवय भी घट मानना पड़ेगा अनुभव होता है अनुभव से केवल इतने नहीं तो व्यवहार तो भी व्यवहार भी होता है जलाहरण करते हैं केवल दिखता है में तर्क दिखता है इतने मात्र से उसको नहीं कर सकते हैं तर्क करके किंतु व्यवहार भी होता है ब्रह्म ज्ञान में तो दिखता भी है किंतु व्यवहार नहीं होता है सुस्ति में रजत दिखने पर भी रजत को लेकर के बनाएंगे नहीं कि भूषण बनाएंगे तो समय देखेंगे नहीं रजत नहीं है मरुभ में जल दिखता है किंतु पीने के लिए जो गएंगे तो व्यवहार नहीं होता है किसानिवृत्त तो नहीं होती किंतु घटादि में व्यवहार होता है घटादि से परमाणु से जो व्यवहार नहीं हो सकता है यहाँ घट में व्यवहार होता है क्रिया अलग है स्पष्ट है महान है जल आहरण आदि होता है व्यवस्था पे तनिबंधन निबंधन तो आप लोक यात्रा है क्योंकि लोक में भी ऐसे व्यवहार के कारण लोक यात्रा होती है व्यवहार होता है घट तो लोक में मानते घट अलग मानना पड़ेगा तेन अवैन व्यवहार है क्रियंत अवैध कोई वस्तु अलग है अवैध परमाणु की अपेक्षा से सब व्यवहार होते हैं घटादि शब्द प्रयोग होता है जलाहरण होता है सब व्यवहार अवैध के द्वारा होते हैं जो कि परमाणु से नहीं हो सकते हैं क्या दे करके इसके वो शंका करते हैं असत्य बाघ के अनुभव अवयवन व्यवस्था दे अनुभव से वस्तु की व्यवस्था होती है किंतु अनुभव मात्र से वस्तु की व्यवस्था नहीं होती रज्जु में कभी सर्प का अनुभव होता है भ्रांति कारण होता है सर्प का अनुभव अनुभव होने मात्र से सर्प वहाँ है ये का तो निश्चय हो जाएगा अनुभव मात्र से नहीं किंतु असति बाधक बाधक होने से रज्जु में सर्प जो बाध हो जाता है रज्जु देखते हैं मानते हैं सर्प नहीं था व्यवस्था सर्प की व्यवस्था सर्प की स्थिति नहीं सिद्ध सिद्धि होती क्योंकि बाधक हुआ जहाँ बाधक नहीं है अनुभव से अवैध की व्यवस्था होगी जल दिखता है देने पर तृष्णा निवृत्ति हुई कोई बाधक नहीं उसको जल कहेंगे नहीं कहेंगे हाँ जल पीने का तृष्णा तो होने के बाद भी जल कहेंगे कहते तो मना कहते नहीं जल पीने का तृष्णा निवृत्ति हुई तो उसको जल या नहीं हाँ और मरुभ में जल देखेगा पीने के लिए कितने दूर दौड़ने के बाद तृष्णा निवृत्ति तो हो जाएगी इसे जल नहीं कहीं जल नहीं भ्रांति यहाँ तो व्यवहार होता है असत्य बाधक जब बाधक नहीं अनुभव से अवैध की व्यवस्था होगी अनुभव अवैध को व्यवस्था करता है और सिद्ध करता है अवैध नाम का वस्तु है क्योंकि कोई बाधक नहीं और बौद्ध लोग कहते हैं बाधक हम दिखाएंगे अस्तित्व बाधकम बाधक है बाधक नहीं हो तो अवैध मानेंगे जो बाधक है तो अभी भी कैसे मानेंगे रज में सर्वतम तो नहीं मानते क्योंकि बाधक है इस प्रकार बाधक दिखाते हैं तो बाधक हो तो नहीं मानेंगे कभी समुद्र जल में अग्नि दिखने दिखने पर भ्रांति है जल है धुआं दिखने पर जल में कहीं धुआं दिखा तो भ्रांति है वन में नहीं तो धुआं कैसे धूम कैसे ये बाधक होता है इसी प्रकार यहाँ दिखाते बाधक है अस्थि च बाधकम यह तत्सर्व अनवयवम यथा विज्ञान सत्य गोभटादि से स्वभाव हेतु बौद्ध लोग अनुमान प्रयोग करने के लिए दो ही अवयव प्रयोग करते हैं न्याय में तो पांच अवयव है सत्र पंचतम केचित केचित द्वयम वयम त्रयम वेदांति कहते कोई दो प्रयोग करते कोई तो पांच कहते पांच कौन कहते हैं तार्किक न्याय वैशेषिक पांच अवयव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगम कितने हुआ पांच कैसे द्वयम बौद्ध लोग दो ही कहते हैं व्याप्ति प्रक्षधन का यह संत में भावा जो सत्य हो क्षण के ये सब पदार्थ सत्य है इतने कहेंगे जो कहता है पर्वत में बनी है इसमें क्या प्रमाण है तो बहुत लोग जो पूछता है पर्वत में बनी है क्या प्रमाण है उनको इतने बता जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ बनी है पर्वत में धूम है इतने बता और उसको पूछता है पर्वत में धूम बनी है क्या प्रमाण है कहते पर्वत बनिना दिखाना क्या जरूरत है वो तो, तो पूछता है पर्वत में बनी है इसमें क्या प्रमाण है नायक लोग क्या कहेंगे पहले कहें पर्वतो बनिना फिर धूमात कहे 보도록 তে পর্বত বনমান কানা গর্ছাই তো তুস্তায় পর্বতায় বনেশে কি প্রমাণে আপকো যহা জান ধুমে ওয়ানা বনি পর্বতে বনেশে এই প্রমাণে যো অবয়ে তে পরবতে মনিচিত হয়ে যায় পর্বত বনমান কানা ফির অন্তে কেতস স্নাত পর্বত বননা তো পর্বতায় বনেশে কি প্রমাণে 보도록 তে তে চাই যত্রত ধুম ততত বনি ধোবাশ্চ পর্বত हो गया अपने समझ लो वन्यमान हो जाएगा और उसमें कहना क्या तो वन्यमान का बनना जरूरत नहीं और पहले पर्वत वन्यमान कहना जरूरत नहीं वो तो कहता पर्वत वन्यमान आप कहते हो इसमें क्या प्रमाण है प्रमाण पूछते समय जो पूछता है उत्तर देना चाहिए कोई कुछ पूछता है उत्तर उसमें दूसरे देते हैं ये नहीं प्रश्न क्या पूछा जाता है देकर उत्तर देना है तो पूछता क्या प्रमाण है बोलते पर्वत वन्यमान ये तो प्रमाण पूछता है पर्वत वन्यमान तो पहले आपने कहा था उसके बाद प्रमाण पूछते पर्वत बनना कहना व्यर्थ है इसे बौद्ध लोग जो दो अवय जाति यत्र यद सत सत और ये सब पदार्थ सत है इसे क्या सिद्ध होगा क्षण से हो गए इस प्रकार दो अवय वेदांति कहते कैसे द्वयम वयम त्रयम वेदांति कहते हम तीन अवय प्रयोग करते हैं तत्र पंचतयम केचित कैसे द्वयम वयम त्रयम पांच प्रयोग करते न्यायिक वैशेषिक बौद्ध लोग दो अवय प्रयोग करते हैं वयम वेदांति न त्रयम तीन उदाहरण पर्यतम या दो उदाहरण अधिकम प्रत्येका हेतु उदाहरण तीन वेदांति कहते हैं पर तो वन्यमान धूमात यत्र धूम तत्र वन्य यथा महानतम इतना हो गया तथा चयन तस्मा तथा ये कहने की आवश्यकता नहीं पहले पर्वत बनिमान कह दिया तस्मात पर्वत बनिमान पुनरुति इतने प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उदाहरण पर्यतम अथा उदाहरण आदिकम अथा यहाँ से शुरू करो यत्र धूम तत्र बनी यथा महानसम अयम पर्वत धूमवान तस्मात वन्यमान ये तीन अवय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण कहो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण कितना हो गया उदाहरण उपनयन निगम कितना हुआ तीन प्रतिज्ञा है तो उदाहरण कहो तो तीन अवय हो गया अथवा उदाहरण उपनय निगम वेदांत के पर्वत वनिमान धूमात यत्र धूम तत्र वनि यथा मानसन इतने से हो गया अथवा यत्र धूम तत्र वनि यथा मानसन धूमवान से पर्वत तस्माद वनिमान तीन अवय वेदांत कहते हैं तो ये बौद्ध लोगों का अनुमान प्रयोग किया गया दो अवयव देखो अस्तित्व बाधकम यत तत्सर्वम यथा विज्ञान ये उदाहरण दे दिया यत तत् विज्ञान ज्ञान का कितने अवय मालूम है ज्ञान का अवयव कितने है तीन या चार दो घट ज्ञान पट ज्ञान आदि को रूप ज्ञान उप ज्ञान मधुर विज्ञान ज्ञान होता है ना ज्ञान का कितना अवयव है अवयव नहीं दो या तीन है ज्ञान का कोई अवयव नहीं ज्ञान गुण है कोई गुण का अवयव नहीं होता द्रव्य का अवयव होते हैं ज्ञान का गुण है हैं ज्ञान का ज्ञान का अवयव है ज्ञान गुण है गुण है से उसका अवयव नहीं है तो ज्ञान हो गया सत है सत होने है और निरवय हुआ यह सत तत्सर्व अनवयवम सब निरवय यथा विज्ञान ये व्याप्ति ज्ञान हो गया सत्य गो घटादी गो घटादी भी सत्य है इसलिए क्या होगा अनवय निरवय भुजे इति स्वभाव जो सत्य होता है वो निरवय होता है सप्तम ही विरुद्ध धर्म संसर्ग रहित व्याप्तम यत्र सप्तम तत्र विरुद्ध संसर्ग रहित विज्ञान आदि तत्व उसमें रहता है कोई विरुद्ध धर्म संसर्ग नहीं रहता है तद विरुद्ध से विरुद्ध धर्म संसर्ग सावयव और परमाणु निरवे है तो उसमें विरुद्ध धर्म संसर्ग सावयव तो कैसे आएगा विज्ञान निरवे है सत्य और जत्र यत्र सत्वम तत्र विरुद्ध धर्म संसर्ग रहित सम विज्ञान निरवय होने से उसका विरुद्ध हो गया विरुद्ध धर्म संसर्ग सावेव हो जाएगा इसे सावेव नहीं होना चाहिए सावेव जो उपलब्ध मानो व्यापक विरुद्ध उपलब्ध सप्तम से थी यदि सावेव होगा तो सत नहीं होना चाहिए जहाँ जहाँ हेतु है व्याप्य है वहाँ वहाँ व्यापक रहेगा धूम जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वन्य है और वन्य जहाँ नहीं रहे वहाँ धूम भी नहीं व्यापक तो नहीं रहे तो व्याप्य नहीं रहेगा सत्व होता है व्याप्य व्यापक हो गया विरुद्ध धर्म संसर्ग रही तत्व विरुद्ध धर्म का संबंध अभाव विरुद्ध धर्म संसर्ग नहीं अवय सावय तो नहीं रहेगा विज्ञान में जैसे सत्व है सावय तो नहीं है इसी प्रकार गो घटादि वस्तु में सत्व होने के कारण सावय तो नहीं रहेगा यदि सावयत्व का अभाव सावैव तो अभाव का अभाव क्या होगा सावैव तो यदि सावैव दिखता है घटादी तो उसमें सत्य भी नहीं रहेगा जहाँ व्यापक का अभाव वहाँ व्याप्य का अभाव तब विरुद्ध से विरुद्ध संसर्ग सावैव उपलब्ध माना घटादी सावैव दिखते हैं व्यापक के विरुद्ध उपलब्ध है व्यापक का विरुद्ध अर्थात व्यापक का अभाव घट का विरुद्ध घटाभाव है व्यापक विरुद्ध का व्यापक अभाव व्यापक के अभाव की उपलब्धि होने पर जहाँ व्यापक नहीं रहेगा वहाँ व्याप्त भी नहीं रहेगा घटपट आदि सावेग दिखते हैं तो सत्वम भी निवर्त थी सत्व नहीं होना चाहिए घट में यदि घट को सावय मानेंगे घट ही नहीं रहेगा सत्वम पर निवर्त थी यही बाधक है यदि घट का आप सावेग कहेंगे तो घट का सत्व ही नष्ट हो जाएगा सत्व ही नहीं रहेगा क्योंकि यत्र तो सत्वम तत्र निरवयत्व जहाँ यथा विज्ञान जहाँ निरवयत्व नहीं सावयत्व रहेगा वहाँ सत्व में नास्ती सत्य भी नहीं रहेगा इसलिए ये बाधक है घट में सत्व दिखता है सत्व का अभाव हो जाएगा ये बाधक की उपलब्धि होने से अनुभव अवैध घट रूप अवैध को व्यवस्था नहीं कर सकता है ये बौद्ध लोग कहते हैं अस्तित्व अवैध नहीं तद्देशत्व ऐसे दशत्व आवृतत्व अनावृतत्व रक्ता रक्तत्व चलाचल संरक्षण विरुद्ध धर्म संसार अवैध में कैसे विरुद्ध देखो तद्देशत्व ऐसे देशत्व तद्देश में ऐसे देश में कहता रहेगा कोई आवृत है अनावृत है एक देश ढक दिया एक देश अनावृत है रक्तत्व अरक्तत्व रक्तत्व है अरक्तत्व अग्नि से ताक रक्त होता है कोई रक्त नहीं हुआ चलाचलत्व कभी चलता है कभी अचलत्व ये जो विरुद्ध धर्म संसर्ग दिखता है विरुद्ध धर्म धर्म रहने से सावे उसमें सावे को जो दिलानेंगे तो सत्य भी नहीं रहेगा इसे सत्व है तो विरुद्ध संसर्ग नहीं होना चाहिए यदि विरुद्ध संसर्ग है तो सत्य भी नहीं घटाद में अवय में विरुद्ध धर्म संसर्ग दिखते हैं इसे सत्य भी नहीं रहेगा व्यापक का अभाव विरुद्ध संसर्ग धर्म संसर्ग रही तत्व का अभाव विरुद्ध धर्म संसर्ग विरुद्ध धर्म संसर्ग अवय में लिखने से सत्य भी नहीं रहेगा यही बाधक है इसलिए अनुभव से यदि आप अवैध की व्यवस्था करना चाहेंगे तो घट का सत्य भी नहीं सिद्ध होगा घट सत्य है तो निरवय मानना चाहिए एक तथा यश्य समय इसलिए कहते यश्य पुनर्वस्तु का प्रत्यय विशेष सूक्ष्म च कारणम उपलब्ध्यम अविकल्प से तस्य अवय व्यभाव अपद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानमिति प्रायण सर्वमेव प्राप्त मिथ्या ज्ञानमिति यसे पुनर्वस्तु का सब प्रत्यय विशिष्ट परमाणु का ढेर प्रत्यय कोई वस्तु नहीं है खाली दिखता है परमाणु का अलग नहीं बौद्ध लोग कहते हैं परमाणु का पुंज ढेर है घटनाम को कोई अवैध नहीं मानते इनके जो बौद्ध मत में है और वो सूक्ष्म भी है परमाणु सूक्ष्म है सूक्ष्म से कारण और सूक्ष्म कारण सूक्ष्म तो उपलब्ध नहीं होता है अनुपलब्ध कारण यदि है परमाणु रूप है उपलब्धि का विषय नहीं तो घट भी नहीं दिखना चाहिए अविकल्प तस्य अवयवी अभाव अविकल्प अविकल्प ज्ञान का विषय नहीं होगा सूक्ष्म सत्य अवयव अभाव अतद्रूप प्रतिष्ठा मिथ्या ज्ञान अवय बिना कोई वस्तु नहीं है बौद्ध मत में और जो अवैव का प्रत्यक्ष जो होता है उसको ब्रह्म ज्ञान मानेंगे अतद्रूप प्रतिष्ठा मिथ्या ज्ञान कौन ज्ञान मिथ्या ज्ञान प्राण सर्वमेव भ्रांतम जो घट गौ पट आदि अवैवी का ज्ञान होता है सब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा बौद्ध मत के अनुसार अब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो तथा तो सम्य ज्ञान में किम ख्यात कि सम्य ज्ञान किसको कहेंगे जिसका विषय रहे विषय परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता है जिसका प्रत्यक्ष होता है ही नहीं भी तो विषय नहीं रहा प्रत्यक्ष का यद यद उपलब्ध थे तब अवय भी तो नाध्यात्म जिस चीज की उपलब्धि होती सब भी है और अवैवी से भिन्न की परमाणु की उपलब्धि नहीं होती तस्माद अवय भी ये महत्व आदि आपन्ना समापत्ति निर्वर्तिकाया विषय भगवती इसलिए सिद्ध होता है अवैवी वस्तु है जिसे महत्व स्पर्श क्रिया आदि व्यवहार होता है यही समापत्ति निर्वितर का समापत्ति का विषय है कि बौद्ध लोग तो कहते अवैव ना कोई विषय नहीं है किंतु अवैव मानना पड़ेगा परमाणु आदि का परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता है अवैवी का प्रत्यक्ष होता है टीका में अयम अभिप्राय है अनुभव सिद्धम सप्तम हेतु क्रियते यद किल पांकुल पादुको हालिको भी प्रतिपद्यते अन्य दवा अनुभव सिद्धार्थ सिद्धांत पूछता है जो आप सत्व को हेतु करते हो जो सत्व अनुभव सिद्ध सत्व उसको हेतु करते हो अथवा अनुभव सिद्ध सत्य से दूसरा कोई सत्व आप मानते हो अनुभव सिद्ध सत्व हेतु कैसा है यदि पांच किलो को हाली को भी पशुपति हाल चलाने वाला जिसका पैर में कीचड़ पांच किलो कीचड़ लगा हुआ मिट्टी में काम करता है पैर में है हाल चलाने वाला सामान्य व्यक्ति वो भी मानता है ये वस्तु है करके घट है हल है खेत है बीज है ऐसे मानता है ऐसे सत्व को तुम हेतु करते हो अन्य अनुभव सिद्धार्थ अनुभव सिद्ध से भिन्न कोई सत्य मानते हो तत्र अन्य अन्य हेतु करेंगे अनुभव सिद्ध से अनुभव सिद्ध से जिसके हेतु करेंगे वो सिद्ध नहीं तो असिद्ध है असिद्ध वस्तु हेतु क्या होगा कोई हेतु बनाता है जो हेतु कभी सिद्ध है नहीं गया वो करेगा पर्वत बनिमान सत विषाणा क्योंकि खरगोश का सिंह खरगोश का सिंह पहले सिद्ध हो तो बनी सिद्ध होगा नहीं वापिस असिद्ध हेतु नहीं होता है जो अनुभव सिद्ध सत्यों से भिन्न यदि हेतु बनाएंगे अन्य असिद्धत्वाद हेतु असिद्ध होने से हेतु नहीं बनेगा और अनुभव सिद्ध सत्व हेतु बनाएंगे अनुभव सिद्धम तो घटाधीन सत्व अर्थ किराकारिक रूपम न स्थूलाद अन्य अनुभव सिद्ध जो घटाधीन सत्व है घटादि है अर्थ किराकारिक रूपम अर्थ क्रियाकारी प्रयोजन सिद्ध करने वाले घटे जलाहरण क्रिया प्रयोजन होता है अर्थ क्रियाकारितम सत्तम घटा देने हे न स्थूला स्थूलत्व अन्य घट में स्थूलत्व है उससे अन्य कोई सत्व है ही नहीं दिखता है घट स्थूल घट दिखता है स्वयं हेतु स्थूलत्व अपाकुर्वन यदि हेतु आप सत्व के द्वारा हेतु कर तो स्थूल नहीं होगा स्थूलत्व का निराकरण करेगा अवय नहीं है आत्मान में वो जानते यत्र सत्तम तत् स्थूलत्म स्थूलत्व नहीं रहेगा तो स्वयं भी नहीं रहेगा अपने को ही हटा देहांत व्याहत कर देगा इसलिए अवैध मानना पड़ेगा और न आगे उसके प्रति शंका है ओ